नमस्कार मित्रों ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि 80 करोड़ वोटर है 2000 मई 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ 80 करोड़ जितने वोटर होंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास 15 करोड़ उनमें से वोट देंगे कुछ 70 75 परसेंट यानी 11 करोड़ मान लो उनमें से 8-9 करोड़ वोट मोदी जी को मिल सकते हैं और यदि सुरपंखा गांधी ने हरेक मिडिल क्लास जैसे आप हो उनको आपको हजार का नोट देके बोला कि भाई वोट आप राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को देना तो आप हजार का नोट जेब में रख लोगे या गरीब आदमी को दे दोगे लेकिन वोट तो आप फिर दोगे नहीं कांग्रेस को मोदी जी को दोगे बीजेपी को दोगे तो किस तरह से मिडिल क्लास के वोट कांग्रेस को न मिले तो कोई बात नहीं लेकिन बीजेपी को न मिले इसलिए अरविंद भाई को पेड मीडिया कवरेज दे रहा है और paid media upper middle class में उनको ज्यादा कवरेज दे रहा है और उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पेड हिंदुस्तान टाइम्स जो है 25 मई का अंग्रेजी उसने सेंटर पे अरविंद भाई का फोटो रखा और फोर्थ पेज पे आधा पेज दे दिया और वही अखबार का मालिक जब हिंदी अखबार निकालता है दिल्ली का उसी दिन का तो फ्रंट पेज पे कोई नाम नहीं है और फोर्थ पेज पे सिक्स पेज पे एक चौथाई पेज तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ी ये सब एक्सप्लेन क्या करने की जरूरत है बीजेपी के वोट कटे तो कटे तो इसमें मैं बताऊं कि मैं मोदी जी का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं मैं खुद इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूं गांधीनगर से या अहमदाबाद ईस्ट से और जहां पे कोई भी खड़ा रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मोदी जी शायद गांधीनगर से खड़े रहे अहमदाबाद ईस्ट से खड़े रहे मेरे पास किसी और कंस्टिट्यूएंसी में जाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है पहुंच नहीं है मैं पिछले 25 साल से अहमदाबाद में ही रहा हूं किसी और कंस्टिट्यूएंसी में मेरा कोई कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है या किसी एक्स वाई जेड के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है मैं ये दो कंस्टिट्यूएंसी में से एक में लड़ूंगा अहमदाबाद वेस्ट है वो एस रिजर्व है वहां पर मैं चुनाव लड़ नहीं सकता तो गांधीनगर और अहमदाबाद ईस्ट मेरे पास ये दो ऑप्शन है और मैं बीजेपी को वोट मैंने कभी नहीं दिया पिछले पंद्रह साल में क्योंकि बीजेपी राइट टू रिकॉल की विरोधी है वेल्थ टैक्स का विरोधी वेल्थ टैक्स की विरोधी है यहां तक कि बांग्लादेशियों को रोकने के लिए भी बीजेपी ने कोई कानून नहीं बनाया और मुझे बीजेपी के सांसदों में कोई श्रद्धा भी नहीं है हाँ मोदी साहब सुरपंखा गांधी के मुकाबले में अच्छे प्रधानमंत्री मतलब सुरपंखा गांधी या उसके परिवार के लोग या उसके चमचे जैसे ये मनमोहन कौर है या चिदम्बरम है उनके उनके मुकाबले वो अच्छे पीएम बनेंगे पर यहाँ पर बात खत्म होती है तो क्वेश्चन आता है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए या उनके अरविंद भाई को एक्सपोज करने के लिए कि पहले मैं कार्यकर्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि इनका मकसद सिर्फ वोट काटना है या तो उनके जो स्पॉन्सर है इनके मकसद के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके स्पॉन्सर मतलब एक कठपुतली होती है कठपुतली के ऊपर कठपुतली चलाने वाला होता है पपेट मास्टर और पपेट मास्टर के ऊपर भी पपेट मास्टर मास्टर होता है तीन चार लेवल होते हैं जैसे कि अन्ना थे तो वो अरविंद भाई की कठपुतली थे उनका काम था स्पीच देना अनशन पे बैठना ऐसे फोटो लगाना तो तरह तरह के पोज उनको आपको इंटरनेट पे फोटो मिलेंगे और पपेट मास्टर अरविंद भाई थे जब अन्ना ने मना कर दिया कि भाई कल से मैं कठपुतली नहीं हूं पिक्चर का प्लॉट भी मैं बनाऊंगा पिक्चर की स्क्रिप्ट भी मैं लिखूंगा पिक्चर का डायरेक्टर भी डायरेक्शन भी मैं करूंगा भाई तेरे को तो सिर्फ डायलॉग एक्टर की तरह बुलाया था तो जब उन्होंने कठपुतली बनने से मना किया तो अरविंद भाई उनके जो पपेट मास्टर थे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया अब टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया तो टीम का नाम भी बदलना पड़ेगा तो नाम बदल दिया टीम अरविंद हो गया और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेने से ऑब्जेक्शन लिया तो फिर नाम बदल के आम आदमी पार्टी कर दिया वो तो नेम चेंज था तो इसी तरह से अरविंद भाई के पपेट मास्टर थे पर उनके ऊपर पपेट मास्टर है फोर्ड फाउंडेशन जो कि उनको कहता है कि भाई तुम आज नई पार्टी बनाओ और कल फोर्ड फाउंडेशन इनको आदेश दे कि पार्टी बंद कर लो या तो मोदी साहब को सपोर्ट करो तो वो मोदी साहब को सपोर्ट करना पड़ेगा और फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर है रॉकोफेलर वो मैंने और चाइल्ड ये दो मेन आदमी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रॉकोफेलर और रॉस चाइल्ड और आ, तो ये हायरार्की में मैं ये नहीं कहता कि अरविंद भाई ने हिंदुस्तान टाइम्स को पैसा दिया था कि भाई मेरा अंग्रेजी अखबार में फोटो छापा वगैरह उनके पास इतना पैसा है भी नहीं इतना न्यूज कवरेज की कीमत मिनिमम 10-15 लाख होगी कोई 10-15 लाख उनके पास है नहीं कि वो इस तरह से दे सके पर जिसने दिए उन्होंने क्यों दिए कि upper middle class voter BJP से कट के दूसरी तरफ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इसमें कि बहुत सारे कार्यकर्ता और मतदाता मानते हैं कि देश की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भरे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही हो आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है करोड़ों लोगों के पास रेफ्रिजरेटर प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन कुछ कुछ बुनियादी प्रॉब्लम है वो बिगड़ते जा रहे हैं जैसे कि सेना कमजोर हो रही है बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर घुस रहे हैं देश में पुलिस में करप्शन बढ़ रहा है अदालतों में करप्शन बढ़ रहा है और उसकी वजह से देश अंदर से खोखला हो रहा है इसलिए हमें अच्छे कानूनों की जरूरत है यहां पे मुख्य बात शुरू होती है तो जिनको अच्छे कानूनों की जरूरत महसूस हुई वो लोग राजीव दीक्षित के साथ आए कुछ लोग मेरे साथ आए राइट टू रिकॉल ग्रुप में जो फेसबुक का ग्रुप है चार हजार लोग है दूसरा ग्रुप है सत्रह हजार लोग है एक्टिव तो दो सौ तीन सौ है और वो देश में कानून सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे थे कोई व्यक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा कौन प्रधानमंत्री बने कौन एमपी बने ना उसमें हमको इंटरेस्ट है और ना ही उससे कोई सॉल्यूशन आने वाला है आज मान लो मैं कहूं कि ये 400 एमपी अच्छे 400-500 आदमियों का लिस्ट दूं और कहूं कि ये सज्जन आदमी है संत आदमी है लोग उनको वोट दे और मान लो पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ में से बयासी करोड़ वोट मिल जाते हैं सारे के सारे और वो 500 में से 600 आदमी एमपी बन जाते हैं तो वही प्रॉब्लम होगा कि एक हफ्ते के अंदर वो लोग बिक जाएंगे यानी एमपी बदलना सॉल्यूशन है ही नहीं सवाल है अच्छे सोल्यूशन सॉल्यूशन है अच्छे कानून लाना कौन से कानून लाना मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ट्रांसपेरेंट कंप्लेन फाइलिंग का कानून फिर नागरिक यदि एसएमएस से कंप्लेन भेजता है तो वो कंप्लेन पीएम के वेबसाइट पे आए नागरिक यदि शॉर्टकट भेजता है तो वो शॉर्टकट का टोटल पीएम के वेबसाइट पे आए right to recall PM right to recall supreme court जज jury system wealth tax inheritance tax VAT के कानून को निकाल देना चाहिए लोकल बॉडी टैक्स निकाल देना चाहिए ये सारे कानून देश में लाने अब सवाल आता है कि भाई एमपी नहीं बदलने तो कानून कैसे लाए तो उसके लिए मैंने सजेशन दिया कि लोक आंदोलन यानी कि करोड़ों नागरिक 40 करोड़ 50 करोड़ एक करोड़ दो करोड़ जितने हो सके वो एमपी को सीधा एसएमएस से ऑर्डर भेजे तो इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए थे जैसे मेरा राइट टू रिकॉल ग्रुप है राजीव दीक्षित जी ने आजादी बचाओ आंदोलन था बाद में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हुआ तो लाखों कार्यकर्ताओं उनके साथ क्यों जुड़े वो क्यों बीजेपी के पास नहीं गए वो क्यों कांग्रेस के पास नहीं गए ऐसा नहीं था कि उनको बीजेपी में अविश्वास है या विश्वास नहीं है वो मानते हैं कि अब व्यक्ति परिवर्तन या मात्र सत्ता परिवर्तन रास्ता है ही नहीं इलेक्शन आएगा तब अच्छे आदमी को वोट दे देंगे जिसको मोदी को वोट देना मोदी को वोट दे जिसे सुरपंखा गांधी को वोट देना सुरपंखा गांधी को वोट दे पर वो इस बात को ये सोच के वोट नहीं डाल रहे कि भाई इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन की मूवमेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा ये नकली क्रांतिकारी मतलब नकली व्यवस्था परिवर्तन में मानने वाले लोगों से मैं नकली क्यों कह रहा हूं खुलेआम कह रहा हूं नकली कि पहले उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन लड़ना ही नहीं है उन्हें जन लोकपाल का कानून चाहिए और तभी उन्होंने बोल दिया कि जन लोकपाल होगा लेकिन राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का क्लॉज जन लोकपाल में नहीं आने देंगे जन लोकपाल में ज्यूरी सिस्टम का भी उन्होंने विरोध किया कि फैसला कौन देगा जज देगा ज्यूरी नहीं देगी मेरा दूसरे कुछ वीडियो है जूरी सिस्टम पे यानी व्यवस्था परिवर्तन का तो उन्होंने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी इस नाम पे चलता रहा कि भाई उन्हें उन्हें एमपी नहीं बनना उन्हें किसी के वोट नहीं काटने उनको तो इलेक्शन में ही नहीं खड़ा रहना उनको सिर्फ जन लोकपाल का कानून चाहिए फिर मैंने उनको कहा अरविंद भाई को कि भाई मैं ये कैंपेन चला रहा हूं कि करोड़ों नागरिकों को रिक्वेस्ट किया जाए 70 करोड़ 40 करोड़ 20 करोड़ जितने हो सके कि नागरिक एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि आप Jan Lokpal with right to recall Jan Lokpal clauses पास करो तो मैंने तो अपने एमपी को ऑर्डर भेज दिया और दूसरे लोगों को आज जितनों भेजा इतना भेजा लेकिन आप यदि टीवी पे एसएमएस पे ऑर्डर भेजते हो कि ये मेरा एमपी मैं इसको ऑर्डर भेजता हूं तो करोड़ों लोगों और एसएमएस भेजेंगे तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि इस तरह से एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजने की बात को मैं नहीं मानता लोगों को सड़कों पे आना चाहिए नारे लगाने चाहिए बैनर लेके घूमना चाहिए अन्ना का फोटो लेके घूमना चाहिए मेरा फोटो लेके घूमना चाहिए नागरिक अपने मोबाइल से अपने मोबाइल से एमपी को एसएमएस करके ऑर्डर भेजे मैं इस बात को नहीं मानता मुझे तो तभी विश्वास तभी अविश्वास हो गया था कि इस आदमी को सिस्टम चेंज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं पर काफी युवा कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं कि उनके नाम से भ्रमित होके ये मान गए कि भाई यहां सिस्टम चेंज की बात होने वाली है वो इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और यहां देश का नुकसान हो रहा है देश का कैसे नुकसान हो रहा है टाइम पास हो रहा है टाइम पास का कैसे हो रहा है कि ये जितने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहे हैं कार्यकर्ता जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया उनके साथ धोखा हुआ है तो दो साल के बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे वो देश के लिए कोई अच्छा काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैंने ये एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी का उपयोग करके कांग्रेस ने बीजेपी और टीडीपी के वोट काटे तो 2009 की साल में मैं काफी चिरंजीवी के कार्यकर्ताओं के साथ था मैं उनको बोल रहा था कि भाई आप राइट टू रिकॉल उनको मेरे जो कानून अच्छे लगे राइट टू रिकॉल वगैरह मैंने कहा ये कानूनों का प्रचार करो किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो तो उन्होंने कहा नहीं हमें इस आदमी में बहुत श्रद्धा है देव आदमी है ये आदमी है इतना परिवर्तन कर देगा अब उस बात को तीन चार साल हो गए चिरंजीव की पूरी पार्टी थी प्रचार राज्यम पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई चिरंजीव है वो कांग्रेस में मिनिस्टर बन गए तो अब मैं जब वो आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मेहता वो अक्सर मुझे मेहता कह के बुलाते हैं पॉलिटिक्स की बात मत कर बस वो पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं करना चाहते उनको इतना बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रजा रजम पार्टी को सपोर्ट दिया था और एक पैसा नहीं लिया था वो तो पैसा डोनेट कर रहे थे आज वो इतने हतोत्साहित हो गए उनके साथ धोखा हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें असफलता मिली इसलिए क्योंकि उनको असफलता मिलने के बाद असफलता मिली शुरुआत में सफलता मिली कि प्रजा रजम पार्टी के इतने कैंडिडेट चुन गए तो वो कह रहे थे चलो हमें सीएम नहीं बने तो क्या हुआ हम 2014 में चिरंजीवी को सीएम बना देंगे और अब तो चिरंजीवी पार्टी के साथ ही कांग्रेस में जुड़ गया वो सीएम बनेंगे तो कांग्रेस के सीएम बनेंगे तो उनके साथ जो धोखा हुआ अब वो देश में पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं वो पॉलिटिक्स की बात ही करने को तैयार नहीं है इसी तरह का धोखा लालू यादव ने 1980 के आसपास कार्यकर्ताओं को दिया था उस समय लालू यादव के नाम की कस्में खाते थे लोग अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता कि ये आदमी दो साल इमरजेंसी के में इंदिरा गांधी की देवी इंदिरा अम्मा ने उनको जेल में बंद कर दिया था वहां जेल में उनको मारा जाता था पीटा जाता था एक कमरे में बंद करके दो दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं देते थे और इतना ही कहा था कि आप जयप्रकाश नारायण के खिलाफ जज के सामने जुबानी दे दो मीडिया के सामने कि इस आदमी ने हमें तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया बम फेंकने के लिए उकसाया गोलीबारी करने के लिए उकसाया और हम तुमको रिहा कर देंगे लालू यादव ने कहा मैं ऐसी कोई जुबानी नहीं देने वाला जज के सामने या मीडिया के सामने तो दो साल उनको जेल में रखा गया लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और वो 1977 में एमपी बने और एमपी बनने के बाद आप जानते हो कि आज वो कितने भ्रष्ट और कितने मतलब गुंडों को सपोर्ट देते हर तरह से गए गुजरे तो जो लोगों ने लालू यादव को जयप्रकाश नारायण को 1975 1974 से लेकर 1977 में सपोर्ट दिया पुलिस की लाठियां खाई जेल गए वो आज पॉलिटिक्स की बात करने को तैयार नहीं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ वो कोई वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे वो उनको ना अच्छा काम करने में इंटरेस्ट है ना उनको कोई बुरा काम करने में इंटरेस्ट है वो कहते हैं कि भाई हम भले हमारा बिजनेस बना हमारी घर गृहस्थी भली हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब जब दोबारा इस तरह से धोखा होगा तो दो नुकसान है एक तो हमारे दो तीन साल बर्बाद हो जाएंगे जैसे अन्ना ने उसको पब्लिसिटी चाहिए थी Anna is a publicity hungry freak अखबार में फोटो चाहिए था, टाइम मैगजीन में फोटो चाहिए था, टीवी चैनल में उसके बाइट्स चाहिए थे, इसलिए उसने देश के कार्यकर्ताओं के दो डेढ़ साल बिगाड़ दिए। अब फिर से डेढ़ दो साल आम आदमी के पार्टी के नाम पे बिगड़ेंगे। व्यवस्था परिवर्तन में उनका रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है और उसके मैं सबूत और दूं आपको कि वो राइट टू रिकॉल की बात पिछले दो साल से ढोल नगाड़े बजा बजा के कर रहे हैं फेब्रुआरी 2011 में उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की और पेड मीडिया उनको कवरेज दे रहा है मैं राइट टू रिकॉल की मूवमेंट 1998 से चला रहा हूं पर पेड मीडिया ने कभी सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि मेरी जो दरखास्त है right to recall Doordarshan chairman right to recall Doordarshan chairman की जब मैं बात करता हूं तो पत्रकार के होश उड़ जाते हैं वो सीधा मेरा एजेंडा फाड़ के फेंक के मेरे हाथ में दे देता है क्योंकि right to recall Doordarshan chairman आ गया तो पेड मीडिया मैन की जो इनकम है वो 90-95 परसेंट कम हो जाएगी तो इस तरह से पर अन्ना ने जब राइट टू रिकॉल बोला तो बोला right to recall corporator right to recall sarpanch right to recall supreme court जज का विरोध किया right to recall Doordarshan chairman का विरोध किया राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध किया राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया तो उनको कवरेज देने में कोई नुकसान नहीं है पर वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट पिछले दो साल हो गए तीन साल हो गए अभी तक उन्होंने वेबसाइट पर नहीं डाला वो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट को स्वराज चैप्टर में स्वराज उनकी जो पुस्तक है उसके दूसरे एडिशन में बोल रहे थे कि इसमें मैं राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट डालूंगा राइट टू रिकॉल जो भी है वो पीएम हो या जन लोकपाल एमपी एमएलए उसकी दूसरी एडिशन का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट वेबसाइट पर नहीं डाला उनकी स्वराज पुस्तक में नहीं आया उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कभी बात ही नहीं करते और अब तो दिल्ली के इलेक्शन आ गए अक्टूबर में वो पहले कह रहे थे कि दिल्ली के इलेक्शन आएंगे उससे पहले राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट दे देंगे किसी कार्यकर्ता ने वही प्रश्न पूछा जो प्रश्न पिछले 5000 साल से बुद्धिमान लोग पूछते आ रहे हैं कि भाई मान लो दिल्ली में सत्तर एमएलए हैं हमने आम आदमी पार्टी को साठ एमएलए चुन के दे दिए चलो आप नहीं बिके मान लिया आप नहीं बिके एक आदमी नहीं बिकेगा मान लेता हूं उसको पावर चाहिए उसको बहुत बड़ा नाम करना इतिहास में अपना नाम करना इसलिए वो एक पैसे को हाथ नहीं लगाएगा पर तुम्हारे नीचे जो बाकी साठ लोग हैं उनका तो इतिहास में नाम अमर नहीं होने वाला उनमें से तो हर एक आदमी पीएम या मिनिस्टर नहीं बनने वाला वो बेचेंगे कि भाई एमएलए हैं जितना मिल सकता है ले लो और वो लोग यदि कांग्रेस में जुड़ गए तो प्रजा क्या करे आपको तो जो करना है करो वो तो आपको जो करना है कर सकते हो आप लेकिन हम पब्लिक क्या करे उसके बाद तो उसके जवाब में उसने कहा था कि हम राइट टू रिकॉल एमएलए का कानून लाएंगे तो वो राइट टू रिकॉल एमएलए का कानून का ड्राफ्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिया अब तो दिल्ली का इलेक्शन सर पे आ गया यानी व्यवस्था परिवर्तन में रत्ती भर का इंटरेस्ट उनको नहीं है तो फिर उनका इंटरेस्ट क्या है उनके दो तीन एमपी आ सकते हैं पूरे पार्टी में दस एमपी आ जाएंगे ऐसा तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2014 में उनके दिल्ली में ठीक है पेड मीडिया ने उनका काफी अच्छा नेटवर्क डेवलप करवा दिया है तो इनका एक ही मकसद हो सकता है कि जो मकसद प्रजाराज्यम का था, जो मकसद राज ठाकरे का महाराष्ट्र निर्माण सेना का था, वो वोट काटना। और इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जो कार्यकर्ता देश में अच्छी व्यवस्था लाने के इंटरेस्ट से उनके पीछे जा रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, देश का टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरे कंट्री का और वो कार्यकर्ता दो तीन साल के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया था, वो पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं लेंगे यानी इस नुकसान को मैं रोकना चाहता हूं और इसके लिए मैंने वीडियो बनाया अब आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूं आप एक छोटा सा काम कीजिए आपको अरविंद भाई में श्रद्धा है मैं कहूंगा आपकी श्रद्धा दस से मल्टीप्लाई कर दो आप एक कोई भी मोबाइल कैमरा छोटा मोटा कैमकोडर कोई भी कैमरा लेके आप अरविंद भाई से मिलो और एक ही प्रश्न पूछो कि क्या हमें शीला दीक्षित को या दिल्ली के एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए कि जो दिल्ली के पुराने रे, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर उनको रीअपॉइंट किया जाए थोड़ा बैकग्राउंड दे दू अरविंद भाई ने ये कहा कि दिल्ली के जो पुराने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर थे वो भ्रष्ट नहीं थे नए थे वो भ्रष्ट थे और इसलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने की परमिशन दे दी नए रेगुलेटर ने तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप नए रेगुलेटर को नौकरी से निकाल के पुराने को रीअपॉइंट करो तो उसके लिए क्या दिल्ली के एक दो करोड़ वोटर है जितने भी दिल्ली के वोटर है उनको ये रिक्वेस्ट करे कि वो एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजे तो वो इसका विरोध करेंगे या तो जो उनका रिप्लाई आता है वो आप लेके यूट्यूब पे डाल दो फिर उनको बोलो कि भाई राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट आप कब दोगे आज ही होना चाहिए उनके पास उन्होंने तो फरवरी 2011 में बोला था और उनका जो भी रिप्लाई आता है वो आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दो और तीसरा कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पे क्या होना चाहिए वो आप उनका वीडियो लेके रिकॉर्ड पे डाल दो और चौथा क्वेश्चन एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं भाई लैंड रिकॉर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन नेट पे डाल दो यानी कि मेरे पास कितनी जमीन है ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है रिलायंस के पास कितनी जमीन है वो जमीन का ब्यौरा कि कहां पे प्लॉट है कौन सा सिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा तहसील कौन सा प्लॉट नंबर उस प्लॉट का एरिया एरिया के सामने उसका जो सर्कल रेट है वो और उसका जो अमाउंट वो हर एक आदमी इनकम टैक्स की कचहरी में अलग अलग कचहरियों में तो देना ही पड़ता है चैरिटी कमिश्नर में हर एक ट्रस्ट है वो रिपोर्टिंग करता है म्यूनिसिपालिटी के पास वो डेटा होता है क्योंकि उसको टैक्स वसूलना होता है म्यूनिसिपालिटी को वो पूरा डेटा है वो नेट पे रख दिया जाए ताकि यदि आपको पता लगाना हो कि सुरपंखा गांधी के पास कितनी जमीन है तो आपने नाम टाइप किया सुरपंखा गांधी उसका आइडिया आ गया थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा देखा कि भाई वो इतने पचास ट्रस्टों में ट्रस्टी है एक देवी इंदिरा अम्मा के नाम पे ट्रस्ट है एक राजीव गांधी के नाम पे ट्रस्ट है एक दुरात्मा गांधी के नाम पे ट्रस्ट है जवाहरलाल गांधी के नाम पे ट्रस्ट है ऐसा कहा जाता है कि वो 200 ट्रस्टियों के ट्रस्टी है मुझे भी आंकड़ा नहीं पता और उस ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है वो भी आपको कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ा बहुत सर्च करके बता देगा तो आपको एक ही मिनट में नहीं तो आधे घंटे में एक घंटे में पता लग जाएगा कि इनके पास कितने मील जमीन स्क्वायर माइल एकड़ की बात नहीं कर रहा फुट की बात नहीं कर रहा अकेले दिल्ली में है अकेले दिल्ली में कहा जाता है कि इनके पास एक लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू से ज्यादा जमीन है और मॉरिशस बैंक की कंपनियों के पास कितनी जमीन है और जब तक वो मतलब आप एक कानून की बात करो कि इस कानून पे आपकी क्या टिप्पणी है क्या लैंड रिकॉर्ड पब्लिकली एक्सपोज करने चाहिए और उनका जो जवाब आता है वो यूट्यूब पे रख लो तो इससे आपको अंदाज आ जाएगा कि क्या ये आदमी सचमुच व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं या सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं धन्यवाद